गुरु की बात तो माननी नहीं नहीं माननी तो आप उस स्तर को उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते एक उलझन गंभीर है ये रहती है सबके सबके दिमाग में रहती आप ये देख सकते हैं पंद्रह वर्ष और किसी ने बीस वर्ष सुना कुछ जाना वो व्यक्ति कहता है अब ये बातें कुछ कुछ समझ में आने लग गई पंद्रह वर्ष से कोई बीस वर्ष से सुनते हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तब कहते हैं हाँ कुछ ये बातें कुछ समझ में आने लगी भाग व्यवहार का है आपको सिखाया गया देखो विवेक वैराग्य की ओर आप जाना चाहते हैं समाधि की ओर जाना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा सुधारनी पड़ेगी ये सांसारिक ढंग से भाषा आप नहीं बोल सकते सांसारिक शैली से आप बातचीत नहीं कर सकते यदि करते हैं तो कितने विद्वान बन जाइए और विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी समाधि की प्राप्ति होगी ही नहीं भाषा बिल्कुल अलग होती है योग सीखने वाले उसमें कितनी कोमलता होती है कितनी नम्रता होती है कितना प्यार होता है कितनी सहन शक्ति होती है जब जब कभी व्यक्ति किसी कारण से अज्ञानता से असावधानी से उसके ऊपर कुछ दोष लगाता है वो दोष है नहीं फिर भी वो उत्तेजना में नहीं आता फिर भी व्यक्ति दुखी नहीं होता नाराज नहीं होता उसका बुरा चाहने के लिए कोई प्रयास नहीं करता बिल्कुल उस स्थिति एक यदि ऐसा न हो तो व्यक्ति अहिंसा आदि व्रतों का पालन कभी नहीं कर सकता साधारण रूप से व्यक्ति दिन भर क्रोधी रहता है आप ध्यान नहीं देंगे तो और सामान्य रूप से क्रोधी रहता हुआ अपने को क्रोधी नहीं मानता यह बड़ी समस्या है सूक्ष्मता में आप देखें कोई न कोई बात हमारे प्रतिकूल होगी वो, वो प्रतिकूल होते ही अंदर सूक्ष्म क्रोध आएगा देख से नहीं सूक्ष्म क्रोध आएगा माता जी सुनाई दे रहा है अब माता जी को मैं कोई उल्टी बात ऐसी कहूं जो माता जी को अनुकूल ना पड़ती हो मैंने कहा माता जी आप कहा इस भूमि भूमि के संपत्ति के उसमें पड़ रही हो इसको छोड़ो और ये योग में बाधक होगी अब झट माता जी कहेंगे देखो स्वामी जी मेरे लिए अच्छी बात नहीं कर रहे मन में क्रोध आ जाएगा आएगा नहीं आएगा बाहर नहीं बोलेगा व्यक्ति अंदर आ जाएगा अच्छा इस अंदर वाले क्रोध को भी पकड़ना पड़ता अंदर का जो क्रोध आता ना साधारण वो दिखाई नहीं देता बाहर आकार से बाहर से भी पहचानना मुश्किल है अंदर रहता है बुद्धिमान व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करने वाला उसको पकड़ लेता कि हां क्रोध है इच्छा अंदर क्रोध है अब वो उसको पकड़ता है उसको हटाता है और दिन भर उसको हटाने का प्रयत्न करता है काम क्रोध जैसी उल्टे दुर्गुण दोष ये बिना उसके ऊपर लगातार मार मारने के अतिरिक्त ढीला छोड़ने पर असावधान होने पर आगे बढ़ जाइए ईश्वर की उपासना छोड़ देने पर सत्पुरुषों का संग न करने से ये कभी रोके नहीं जा सकते कोई नहीं रोक सकता इन्हें ईश्वर प्रकृति विकृति की जो उपासना बोली जाती है प्रकृति विकृति से प्यार करने वाला व्यक्ति इनको जीत नहीं सकता प्रकृति विकृति का अपना स्थान है वो हमारी काम की चीज है पर हम ईश्वर के प्यार को छोड़ के उपासना को छोड़ के प्रकृति विकृति को आकृष्ट नहीं होंगे तो हम इनको रोक देंगे एक बात है जीवात्मा की स्थिति ये ईश्वर के साथ जुड़ा रहे लगातार उपासना करता रहे तब तो काम क्रोध से बच, बच सकता है अन्यथा सूक्ष्म रूप से काम करो से बच ही नहीं सकता कोई उपाय नहीं है संसार यदि उसको ईश्वर के साथ रहना आता है ईश्वर की उपासना सतत करनी आती है और दूसरे पक्ष में भोगों में दोष देखता रहता है वैराग्य उपस्थित रखता है विवेक को उपस्थित रखता है वृत्ति निरोध को उपस्थित रखता है तब तो काम करो तो इनसे लोभ से बचा जा सकता है नहीं तो नहीं बच सकता देखो आपको ये विद्या सीखने को मिल रही है उपदेश के रूप में अध्यापन के रूप में और पूरी विद्या है वैदिक विद्या है ऋषियों की बताई विद्या है व्यक्ति स्वयं कृतकृत्य होके दूसरे को कृतकृत्य बना सकता है औरों को ये विद्या नहीं उपलब्ध है पढ़ने सीखने सिखाने के लिए नहीं मिलती दूसरे संप्रदायों के पास में तो उल्टी बातें हैं लगभग अच्छी बातें कुछ कुछ है और सारी उल्टी है दूसरे स्थानों पर वाचनिक है केवल वाणी से कह दिया केवल उपदेश दे दिया लेखनी के द्वारा लिख दिया इतने से आगे कुछ बात नहीं है और प्रस्ताव पारित करते बहुत कुछ लिख देते हैं बहुत कुछ पढ़ा भी देते हैं परंतु जैसे जोर देना चाहिए इसके ऊपर बल देना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं यदि आप भी वैसा ही करेंगे तो सांसारिक स्तर से उठ के आप योग के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते जिस प्रयोजन के लिए हम सब कुछ करते हैं अर्थात समस्त दुखों से छुटकारा ले लेना सारे बंधन कलेशों से पार हो जाना ईश्वर की प्राप्ति कर लेना वो बात नहीं हो पाएगी यदि वो नहीं किया तो पढ़ा होगा आप यह चेद वेदित अतः सत्यम ना चेद यह वेदित महति विनष्टि विनाश होगा इसमें आप या मैं कोई नहीं बच सकता विनाश निश्चित महती विनिष्ठि होगी यदि महती विनिष्टि हमारी होती है तो हमारा क्या जीवन है बेकार हुआ जीवन ये मनुष्य शरीर क्यों लिया था हमने जो प्रमुख कार्य है मुख्य प्रयोजन है उसको गौण मानना या छोड़ देना ये सब अज्ञानता की बातें समस्त दुखों से छुटकारा पाना नित्य आनंद की प्राप्ति करना ये कैसी अवस्था है ये कैसा स्तर है दुनिया में आप बहुत परिश्रम करेंगे तब तो ये समझ में आएगा नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा शब्दों से कुछ आ जाएगा अनुभूति का विषय नहीं बनेगा साधक जी जोर लगाओ इतनी बड़ी बड़ी अवस्था के हो गए आप वेद मुनि जी वैसे ही है और भाई जस्सू भाई ये तो संसार में फंसे पड़े हैं अभी आप थोड़े से संसार से दूर हैं इन्होंने तो सोच रखा होगा जस्सू भाई जी ने ये काम ब्रह्मचारियों का ये करते रहेंगे हमारा काम तो अपना परिवार का कर दिया कुछ समाज का कर देंगे और बूढ़ापा ऐसे आ गया अब क्या समाधि की बात करेंगे अब क्या योग की बात करेंगे ऐसे सोच तो रहे होंगे ऐसा हो सकता है क्यों अच्छा इन्होंने यही नहीं समझा होगा मैं क्यों आया था इस शरीर में मेरे शरीर में आने का क्या प्रयोजन था वही नहीं पता लगा वेद मुनि जी सावधान हो जाओ आप प्रचार करते हैं अच्छी बात है उपदेश दे लेते हैं कुछ बोल लेते हैं पर जो प्रमुख प्रयोजन है उसको छोड़ बैठते हो आप कुछ दिनों में क्या करेंगे या तो विवेक वैराग्य को प्राप्त करो समाधि को नहीं तो कुछ दिनों आप क्या करेंगे पढ़ पढ़ा करके कुछ लिखना आरंभ कर देंगे कुछ बोलना आरंभ कर देंगे कुछ पढ़ाना भी आरंभ कर सकते हैं अच्छे काम है बुरे नहीं पर मुख्य को ईश्वर प्राप्ति को छोड़ दोगे ये भूलोगे कितने लोग ये कहते हैं हम तो कार में लगे हुए हैं समाज का भला करते हैं राष्ट्र के लिए लगे हुए हैं यही हमारा योग है इसी में हम सब कुछ मानते तो समण रखना ईश्वर की दृष्टि से यह सब गलत है अनुचित है हानिकारक है ईश्वर की जो दृष्टि है वही दृष्टि हमारी होगी फिर ठीक है ईश्वर का गुणक्रम स्वभाव वेदों का उपदेश ऋषि कृत ग्रंथों का संविधान क्या कहता है वो करो अच्छा ये बतलाओ आप आप बुद्धि पूर्वक ज्ञान पूर्वक आजकल असत्य भाषण तो नहीं करते जो करते होंगे वो खड़ा करेंगे असावधानी से एक और कौन कौन करते हैं ज्ञान पूर्वक बुद्धि पूर्वक सोच समझ के जो असत्य भाषण कर लेते हो वो हाथ खड़ा करो समझ में तो आ गया या नहीं आया जानबूझकर नहीं करते उसको छोड़ो असावधानी से अज्ञान पूर्वक उसको हटा दो जानबूझ के बुद्धिपूर्वक सोच विचार के जो झूठ बोलते हो हाँ जी बोलो हाँ अपना हाथ उठा क्यों बोलते हो आप शीघ्रता किस वर्ग में आएगा है अच्छा तो यदि शीघ्रता शीघ्रतावश आप बीस वर्ष तक बोलते रहे तो झूठ तो चलता ही रहेगा अच्छा जो कभी कभी आप रुचि लगती है दूसरे को कुछ चुटकला सुना दिया उसको हंसा दिया ऐसा कौन कौन करते हैं तो फिर आप योग में गति कैसे करोगे चौपट हो जाओगे आप सारे इसको नहीं मानते होंगे आप जैसे विवेक वैराग्य की समाधि की प्राप्ति होती है वैसा व्यवहार करोगे तो ठीक है अन्यथा इन छोटी छोटी बातों को आप ये नहीं समझते हम ऐसी भाषा बोलते तो क्या है ध्यान देना ऐसी भाषा बोलने से व्यक्ति का लौकिक स्तर ज्यो का त्यो बना रहता है व्युत्थान अवस्था और वो विवेक की ओर जाता ही नहीं परिणाम ये निकलेगा या नहीं मानते आप आपको पता लगाना पड़ेगा विवेक वैराग्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति को योगी बनने वाले व्यक्ति को कैसी भाषा बोलनी चाहिए अंतर एक परिपक्व अवस्था का व्यक्ति है एक मध्य स्तर का व्यक्ति है एक बिल्कुल नीचे आरंभ आरंभ ही कर रहा है वो तो इन बातों को प्रारंभ की स्थिति है उनकी भाषा अलग अलग होती है ये अलग विभाग है उच्च कोटि वाले की भाषा अलग होगी और मध्य वाले की उसे अलग होगी और जो अभी आरंभ ही करता है योग की और जाना चाहता है उसकी और अलग होगी जैसे हम भाषा बोलते हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है मन पर प्रभाव पड़ता है उसका और मन पर जो मन में सोचते हैं उसका वाणी पर शरीर पर प्रभाव पड़ता है आप कल्पना करें थोड़ी सी आप थोड़ा सा दूसरे को थोड़ा सा चुटकला सुना के हंस लेते हो परिणाम क्या होता है ये चुटलक चुटकला सुना के हंसना जो है राग से युक्त बात है राग के कारण इसमें रस आएगा मैं ऐसा उसको चुटकुला सुनाऊंगा मैं भी हंसूंगा वो भी हंसेगा और मुझे आनंद आएगा अब उसका परिणाम क्या हुआ वैराग्य से विपरीत राग का क्षेत्र खोल दिया जाता है राग की ओर व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी राग होगा लौकिक चीजों में फिर दूसरे से वो कुछ हंसाना चाहेगा दूसरे के पास जाके कुछ रस लेना चाहेगा ये तो हो गया बोलने का फिर दूसरी बात का रस लेना चाहेगा फिर वो कान का रस लेना चाहेगा फिर वो रसना खाते समय रस, रसना का रस लेना चाहेगा उन इंद्रियों का रस लेने की आदत पड़ जाएगी अब इसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं ये तो रस लेने की भाषा सुनाई मैंने अब एक व्यक्ति है उत्तेजना युक्त बोलना तनाव की भाषा बोलना उत्तेजित होकर बोलना धमका देना डरा देना ऐसी भाषा बोलता है उस व्यक्ति की गति विवेक वैराग्य योग में नहीं हो पाएगी वो ये नहीं जानता मैंने तो ठीक ही बोला था वो व्यक्ति कुछ ऐसी बातें कह रहा था मुझे ऐसा बोलना पड़ा ऐसा उत्तेजित होना पड़ा इसलिए ऐसा बोल दिया जिन बातों को हमने सुना किसी से सुना किसी ने सुनाया बिना परीक्षा किए झट बोल देना ये बात है यम नियमों के विरुद्ध भाषा बोली जाती है और वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता देखो आपको सुनाया था किसी व्यक्ति ने कुछ बात कह दी और उसने सुन ली उसने अगले व्यक्ति को कह दी तो आगे चल दूर चली गई चली गई तो उसका प्रचार होने लगा कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ उस व्यक्ति ने वहां से वो उसकी वस्तुएं उठा ली चोरी कर ली अब कहने वाले ने कैसे कही थी क्यों कही थी चीज उठाई गई भी या नहीं उठाई गई अब झगड़ा हो गया आपस में एक दूसरा दूसरे को कहने लगा कि आपने क्यों कही ये बात उसने चोरी कर ली ये चीज हो गई तो उसने कहा मैंने तो उससे सुनी थी अच्छा तो फिर उससे पूछेंगे आपने क्यों कही कहता मैंने तो उससे सुनी थी ठीक है तो कहेंगे आपने उससे सुनी तो थी फिर परीक्षा तो कर लेते दूसरे को बताऊ न बताऊ कहू न कहू नहीं व्यक्ति के दिमाग में मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा तो मुझे मूर्ख माना जाएगा उत्तर देना चाहिए नहीं समझे आप कुछ न कुछ निर्णय देना चाहिए वही झूठ होगा निर्णय हानिकारक होगा निर्णय तो आप क्या मानते हैं मूर्ख मानने वाला मान सकता है हम हम कहेंगे हम मुझे पता नहीं है ये अच्छा है और वो ये न कहलवाने के लिए कि मुझे पता नहीं है पता है मुझे ऐसा हाँ हाँ ये ठीक बात है उसने ऐसा किया है अब वो बिना परीक्षा के कह देता आपको ये पता नहीं चलता होगा आप दिन भर कितने निर्णय देते हैं और वो सारे बहुत कुछ उसमें वो गलत होते हैं बिना परीक्षा के होते अच्छा अब आध्यात्मिकता की बात सुनो क्या आपने मन के ऊपर इतना नियंत्रण किया नियंत्रण किया जो आप उसको नितांत सभी विषयों से रोक दो जिसने किया होगा वो बताएगा अपना विषय तो पकड़ माया मैं फिर कहना चाहता हूं न तो इसको आप क्षिप्त अवस्था मानिए न मूड अवस्था और न विक्षिप्त अवस्था और न एकाग्र अवस्था और न निरुद्ध अवस्था अर्थात यहां पहुंचिए परमात्मा के अंदर मगन होना समाधि असंप्रज्ञात उस अवस्था को भी न मानिए उससे भी उसको भी हटाइए और आप ये कहेंगे कि मैं इन्हीं में किन्हीं में से भी न तो ईश्वर को विषय बनाऊंगा न जीवात्मा में समाधि लगाऊंगा संप्रज्ञात न विक्षिप्त अवस्था में जाऊंगा कहीं एकाग्र होना न होना और न मूड अवस्था में रहूंगा मैं और न वित्थान अवस्था चंचल में रहूंगा मैं तो ये देखना चाहता हूं कि क्या समस्त विषयों से रोक देना कुछ भी नहीं सोचना ये मैं पूछना चाहता हूं ये बताओ कल आत्मनिरीक्षण में किया था अभ्यास हाँ जी कल आत्मनिरीक्षण में अभ्यास किया था हम्म। सामूहिक भी किया था इसलिए सुनाया जा रहा है यदि आप ऐसे प्रयोग करेंगे निरीक्षण करेंगे तो ये बात समझ में आएगी यदि ऐसा परीक्षण नहीं करेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी आप आएगी नहीं अस्सी वर्ष के हो जाइए तब भी समझ में नहीं आएगी और ये नहीं आएगी तो परिणाम ये रहेगा याद रखना आप अपने मन को बुराई से अधिकार पूर्वक रोक नहीं पाएंगे स्थूल रूप में नहीं तो सूक्ष्म रूप में बुराई मन में होती रहेगी मानसिक स्तर पर होगी ये सिद्धांत तो आपको स्वीकार है कि हम किसी को विषय न बनाए ऐसी मन की स्थिति बनाई जा सकती है है या नहीं है इस स्थिति को बनाने में हमको बहुत से साधन चाहिए जब आप इस स्थिति को बनाने लगेंगे तो संसार को प्रलवत अवस्था में भेज दिए आप प्रलवत अवस्था बना दीजिए तो आपको सुविधा हो जाएगी ध्यान देना जब हम प्रलवत अवस्था संसार की नहीं बनाएंगे तो विविध विषयों की पंक्तियां लगी रहेंगी एक नहीं दूसरा दूसरा नहीं तीसरा कोई न कोई कोई न कोई विषय वर्षा की बूंदों की तरह आता रहेगा आप उसको रोकते जाएंगे और वो आता रहे आता रहेगा मतलब जीवात्मा लाता रहेगा ऐसा समझना यदि आप प्रलवत अवस्था बना के ये स्थिति बनाएंगे तो सुविधा सुविधा हो जाएगी आपको कारण क्या है वहां विषय नहीं रहते ये लौकिक जब नहीं रहते तो अपने ज्ञान विज्ञान को व्यक्ति रोकने में समर्थ होता है और बात फिर से देखिए ईश्वर का ज्ञान आपको हुआ शब्दार्थ संबंध पक्का हो गया सच्चिदानंद स्वरूप ने रखा जीवात्मा सत्य चित एक देशी इच्छा द्वेष प्रयत्न जाना नहीं आत्मनोलिंग जीव का भी हो गया फिर रजत तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृति मान मै तो अंकारा पंत्र मात्राणी उभम इंद्रियम मात्र ये भी हो गया अब आपने तीनों पदार्थों का ज्ञान अच्छी तरह कर लिया तो इस स्थिति बनाने में पूरी सहायता मिलेगी आपको कम समझ में आया हो शायद फिर दोहराऊ बोलो नहीं आया समझ यदि ईश्वर के विषय में निश्चय आत्मक ज्ञान है चाहे वो शब्दार संबंध से हो जीवात्मा के विषय में शब्दार संबंध से पूरा पक्का सिद्धांत याद हो गया जीवात्मा चेतन पदार्थ एक देशी अणु सत्वर जड़ पदार्थ वो सारा विकृति दो रूपों में रहता है ये समझ में आ गया ध्यान देना एक व्यक्ति की ज्ञान की इच्छा होती है जानने की इच्छा होती है वो जानने की इच्छा उस व्यक्ति के मन को नहीं टेकने देती और जिस समय उसने ये समझा एक ईश्वर है सच्चिदानंद स्वरूप निराकार आदि समाज के दूसरे नियम के अनुसार जीवात्मा सचेत है जैसा मैं हूं सारे जीवात्मा भी वही है और सत्वर जतम प्रकृति और चौथी बात है ही नहीं तो किसकी ओर भाग रहा है तीनों का वह तीन ही पदार्थ है वो जान लिए अब किसकी तीव्र इच्छा करेगा वो उसे सहायता मिलेगी यदि वो न हो तो विविध इच्छाएं होंगी ये जानू ये जानू उसके विषय में वो जिज्ञासा होगी ये ऐसा चलेगा अब और देखो आपने ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया ईश्वर व्यापक है <clears throat> जीवात्मा व्यापी है एक सत्वर व्याप्य है ईश्वर व्यापक है अरबों खरबों लोग लोकांतर व्याप्य है ईश्वर व्यापक है ऐसे विश्व के तीन विभाग बनाए अब आप तीनों विभागों को समझ गए और पता लग गया कि तीनों कालों में ईश्वर व्यापक रहता है हम व्याप्य रहते हैं और प्रकृति भी व्याप्य है ईश्वर की ईश्वर के अंदर है ये पता लग गया ये दिमाग बना जब हम ऐसे जान गए तो हम स्वयं के ऊपर अपने विचारों पर अधिकार करने में समर्थ हो जाते हैं अब और देखो जिस समय व्यक्ति संसार के सुख और सुख साधनों में दुख देखता है उसके स्तर है भिन्न भिन्न आपको बताता हूं कुछ क्षेत्रों में हमने देखा यहां दुख है सुख नहीं है पर क्या हुआ फिर एक और पदार्थ देखा हमने वो जो देखा नहीं था या नया सा बड़ा चमक दमक का उसने देखा ये शायद सुख वाला हो तो कहने क्या देखो कहने के नहीं ये क्यों नहीं क्यों नहीं क्या इसमें तो सत्वरजतम तीन है वही परिणाम दो किसमें यहां से हटाओ फिर और एक प्रसार सुना देखा उसमें रुचि होगी उसका परीक्षण उसका परीक्षण लग, करने लग गया फिर और देखा सुना उसका परीक्षण करने लग गया कोई न कोई नया नया नया नया पदार्थ आता जाता है और वो परीक्षण करने बैठ जाता है और राग द्वेष उसका नहीं आई प्रक्रिया समझ में आई या नहीं आई ये भी स्तर है पहले उसने समझा और कुछ वस्तुओं से वैराग्य हुआ देखो कई बार जो एक व्यक्ति को बहुत सुंदर देख रहे हैं बहुत मीठा बोलता है उसके पास रहने से कुछ सुखी अनुभूतियां होती हैं और उसमें कुछ राग हो गया चलो उसे बात करेंगे बहुत सुंदर भी है बात भी बहुत अच्छी करता तो क्या किया उसने ऐसी बातें कह डाली ऐसी कर डाली उसके अंदर दोष दिखाई देने लगे ये तो झूठे आरोप लगा देता है ये तो ये कर देता है वो कर देता तो कहने लगे भाई ये जो मेरा राग आकर्षण था ये तो बहुत खराब है इसे हटाओ हट गया फिर दूसरे व्यक्ति को देख लिया उसने वो उसके साथ जुड़ गया फिर उसके साथ बड़ा आनंद आने लगा उसको वो उसको देखता रहा देखता रहा परिणाम फिर वो निकले फिर इसने इससे भी हटो अब ये व्यक्ति इतना चक्कर लगाता है एक के पीछे दूसरा दूसरे के पीछे दूसरा जिसको देखे वही आपको कथा सुनाई थी ना काल्पनिक दृष्टांत एक बिच्छू की पंक्ति जा रही थी ऐसे दृष्टांत बनाया लोगों ने कल्पना की और एक बिच्छू से पूछा गया कि आप में सरदार कौन सा है तो बिच्छू ने उत्तर दिया जिसको उंगली लगाओ वही सरदार है लगा के देख लो <laughs> जिसको उंगली लगाओ वही दुख का बड़ा पड़ा बुद्धिमान क्या करता है तूने एक को देखा दो को देखा सौ को देखा क्यों खाम का टक्कर मार रहा है सारे ऐसे ही है जहां सूर्य चंद्रमा पता ही नहीं चलता जो वैज्ञानिकों ने खोज की ना आता समाचार पत्रों में एक ये सूर्य हमारा है इसका ग्रह पृथ्वी उपग्रह चंद्रमा और दूसरा सूर्य है वो ये सूर्य नहीं है उसका ग्रह है एक और इतनी दूर ढूंढा बताते हैं जैसे समाचार पत्र में आया कि उसका प्रकाश आज से चले तो डेढ़ सौ वर्ष में यहां पहुंचेगा क्या समझ में आया वेदमुनि जी डेढ़ सौ वर्ष में पहुंचेगा आज चले यहां से प्रकाश सूर्य का एक सेकंड में कितनी गति प्रकाश की तीन लाख के लगभग जितना और एक घंटे में और दिन में और पचास वर्ष में बताइए और ये भी इसमें कहा कि ये इसका ग्रह नहीं है ये दूसरे सूर्य का पास वाले का अब ये कितना बड़ा संसार है आप ढूंढते जाओ आप ढूंढ ही नहीं सकते एक लोग कहते देखो जी जब तक पत्ते पत्ते का ज्ञान न हो जाए तब तक समाधि नहीं लगती मैंने कहा इनका सिर है या कद्दू है पत्ते पत्ते को जानो सारा जीवन खपा दो इस शरीर की नश नाड़ियों को पूरा ढूंढ लोगे ये आशा कम है इतनी नाड़ियां हैं सूक्ष्म है ऐसी रचना है कौन सी नाड़ी किस काम के लिए बनाई शरीर की बात कर रहा हूं त्वचा इंद्रिय बनाई कैसे बनाई किन परमाणुओं से बनाई और वो कैसे पकड़ती है ठंडे को गर्म को आज का वैज्ञानिक मेरी दृष्टि में कोई नहीं आया जो इसको बता दे त्वचांद्रिय तो का निर्माण कैसे हुआ नाशिका जो गंध को पकड़ती है ये तो ढांचा है रहने की जगह है उपकरण है जो गंध को पकड़ती है वो घ्राण इंद्रिय कोई वैज्ञानिक बनाए इसमें कितने परमाणु है कैसे बनती है ये नहीं रट्टा लगा लिया सारी चीज को जानो जब तक प्रकृति को नहीं जान लेता सारी का साक्षात्कार तब तक समाधि नहीं बेकार बिना सिर पैर की बात करते प्रकाश क्रिया स्थितिशील है सत्वर जतम उसे बनी चीजें भोग और पर घोषित करती है ये ज्ञान इंद्रिया है ये कर्म इंद्रिया है ये प्राण का काम है ये अन्न का काम है पांच कोष है जिसे हम काम करते ये ईश्वर है ये जीवात्मा सत्य चेत एक देशी है बेचारा थोड़ी सी शक्ति है उसमें ये जान लिया समाधि में कोई बाधा पड़ने वाली नहीं है नहीं नहीं सारा जानो और रट्टा लगा रहे कहते ये करो वो करो ये सीखो क्यों बेकार की बात करते हो वो कहेगा मैं तो तन मात्राओं को देख करके जब आगे बढ़ूंगा अब सारा जीवन खपा दे तन मात्राओं को देखते रहो आप क्या करोगे तन मात्राओं को देख करके आपने कभी सांख्य में एक प्रक्रिया पढ़ी नहीं पढ़ी वो कहता है तुम्हें प्रकृति का कैसे ज्ञान करोगे उसने ये नहीं कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण से करो क्या समझ में आया प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रकृति का ज्ञान करने के लिए नहीं कहा ऐसा नहीं कहा क्या सूत्र है अचाक्षुषाणाम अनुमानी न बोध अरे चाक्षुष इंद्रियों से नहीं देखेगा अनुमान से जान लो कार्य से कांड का ज्ञान हो जाएगा बस अचाक्षुष पदार्थों को अनुमान से जान लो या शब्द प्रमाण से जान लो और उसको ज्ञान को व्यवहार में उतार दो आप व्यवहारिक हो जाना चाहिए जैसे हम कहते हैं कुछ सुनते हैं पर मन में नहीं बैठती बात कि हम मरेंगे ये नहीं बैठती हमने अच्छी तरह विचार किया जैसे महर्षि दान के दिमाग में बात बैठ गई निश्चित रूप में मृत्यु होगी बचा जा ही नहीं सकता ऐसा ज्ञान कर लो इन विषयों में ये सारे पैदा होने वाले या मरने वाले बस इससे समाधि होगी विवेक होगा वैराग्य होगा इस प्रकार साक्षात्कार होगा कोई रुकावट पड़ने वाली नहीं मैंने इसके दूसरे ढंग से प्रयोग किए ये नहीं कि ये ना मुझे कोई सिखाने वाला ना बताने वाला कि भाई पहले तुम शरीर के अंदर देखो शरीर के अंगों को जानो फिर ये जानो नाड़ियों को जानो फिर पृथ्वी का साक्षात्कार करो फिर करो तन्मात्राओं का करो फिर उनका करो फिर उनका करो सीधी बात जानी ये पूरा संसार नाशवान कोई बचने वाला नहीं है ये बात जानी पूरा संसार नहीं था ये पक्का दिमाग हो गया नहीं रहेगा मुझे सही थे और फिर ये जाना अच्छा नहीं रहेगा का मतलब क्या नहीं रहेगा मतलब दो है अभाव हो जाना रूपांतर हो जाना क्या समझ में आया आप अभाव हो जाना रूपांतर हो जाना मैंने कहा अभाव नहीं हो सकता संसार मिटता है नष्ट होता है पर रूपांतर होता है ये बात समझ में आ गई नाशक कारण दई बस ये बाकी बात समझ में आए विवेक वैराग्य रुकेगा ही नहीं एक आवश्यक ज्ञान ईश्वर के विषय में आवश्यक ज्ञान जीवात्मा के विषय में आवश्यक ज्ञान प्रकृति के बेचे में हो जाना तो ठीक है और ये मान के चलना सब कुछ का ज्ञान करो सब कुछ वो ये वैज्ञानिक क्यों विफल है एक चीज के पीछे लग गए सारा जीवन इस पर खो दिया एक पर लगे एक का भी पूरा ज्ञान नहीं होता इनको कैसे गति होगी इनके योग में एक ढंग पद्धति है ईश्वर जीव प्रकृति का प्रमुख ज्ञान प्राप्त कर उसको प्रयोग में ला उसमें गति सफलता प्राप्त करो फिर भले ही आप किसी विषय में अधिक समय लगाना चाहे कोई आपको रुचिकर लगता है दर्शन का है उपनिषद का है और किसी का है पर इसको गौण मान के नहीं चला जा सकता औरों को मुख्य मान के नहीं चला जा सकता पूरा संसार विफल इसलिए है गौण चीजों के ज्ञान विज्ञान को गौण चीजों के उपार्जन को कौन चीजों के खाने पीने में वो लगा रहता है और मुख्य ईश्वर प्राप्ति को उसने छोड़ दिया परिणाम पूरा विश्व अग्नि की तरह जल रहा है भयंकर दुख बाल की शक्ति इकट्ठी की अमेरिका जैसे देशों ने अस्त्र शस्त्र इतने बनाए सुना जाता है सुनी हुई बात कह रहा तीस बार कितनी बार पूरे संसार को खत्म कर सकता है इतने एटम बम आदि उसके पास में है और वो आज कांप रहा है आतंकवादी क्या करेंगे भोग विलास जो कर रहा था बेचारे के सिर दर्द हो गया उसका दिन रात भोग रहा था आनंद से कौन उसको छेड़ता है कौन उसको देखता है कौन मार मारता है कोई नहीं उसके दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा अब इतना डरा हुआ है वो सारा भोग विलास उठने लगा कबूतर की तरह कि कौन हमको भोगने देगा कौन खाने देगा पता नहीं कौन आतंकवादी कम मारेगा किसको ये सारा क्यों हुआ ये हुआ ईश्वर को छोड़ दिया धर्म को छोड़ दिया ईश्वर प्राप्ति करने कराने को छोड़ दिया केवल भोग और धन अधिकार सब कुछ है दुनिया में अब ये अपने आप को बुद्धिमान मानता है ये समझदार मानता है ये मैं बहुत बुद्धिमान हूं तो सावधान हो जाओ या कुछ कर सकते हैं आप सीख सकते हैं आप इस विद्या को कृत कृत्य हो सकते हैं समाज को देन दे सकते हैं परंतु इतना बताने सिखाने पर भी आप न करें तो आप जैसा बेसमझ व्यक्ति धरती पर कम मिलेगा <laughs> नहीं है भला जब सारी बातें आ गई साधन आपके पास पढ़ाने सिखाने वाले आपके पास आपका शरीर भी अभी ठीक है और फिर भी आप वहीं पड़े हैं जहां संसार के लोग पड़े ये अच्छा नहीं है कुछ समझ में आ गया या नहीं आया ऐसा न कर देना अब तो लगातार सुनाते रहे लगातार कूट कूट के और मैं इस ओर चला गया इधर चले गए उधर के सारा का सारा रबड़ बुद्धि की तरह चौपट न हो जाए कभी ऐसा तो नहीं कर दोगे है जी गीता फैल जाए कभी मैं आऊं दोबारा और कहते ये कौन है कि वो तो वो ब्रह्मचारी है तो ये कौन सा वो देखो तो आज ब्रह्मचारी रहूंगा वो अब क्या हुआ उसका तो विवाह हो गया अच्छा हाँ बेवानी को लड़का लड़की भी पता होगा अच्छा ऐसा न सुनाई देखो कोई कौन कौन तैयारी कर रहे हैं इसकी आप में नहीं नहीं विवाह की है हाँ जी वजह आपके मन में तो ये होगा संसार ने खा पी डाला सब कुछ तुम पीछे रह जाओगे या नहीं कहा घोट दिया गला घोट दिया खा पी के लोग और पता नहीं मुझे कभी धीरे धीरे बूढ़ा ही नहीं हो जाऊं खाने पीने से मैं वंचित रह जाऊं ऐसा तो नहीं सोचते है जी कोई व्यक्ति अंगारे खा रहा हो आग के और जल रहा हो और आप कहते बड़ा सुखी है ये तो और कहते मैं भी खाऊंगा ठीक है तो बच जाओ और स्वयं को बना लो इतना समय लगा के बार बार प्रयोग करके पूरी आस्था के साथ वेद दर्शनों पर विचार रखते हुए आप प्रयोग करके देखो निश्चित रूपेण जैसा ऋषियों ने लिखा वो सफलता मिलेगी प्राप्तम प्रापणीय बात आएगी ज्ञातम ज्ञातव्य आ जाएगा तो आज कार्यक्रम बाहर जाने का है और बाहर का मतलब अजमेर फिर दिल्ली फिर पंजाब फिर अजमेर और फिर यहां हम तो ये मानते सोचते हैं आपको पढ़ाया जाता सिखाया जाता है आप दूसरे को सिखाएंगे आप पता नहीं ऐसा सोचते या नहीं सोचते आपने पढ़ा दूसरे को पढ़ाओगे ऐसा मानते आपने सीखा है ये सुना है औरों को सिखाओगे और आप पता नहीं ऐसा करोगे या नहीं करोगे हुँ? हम्म? करेंगे स्वामी कभी ऐसा नहीं करना दोबारा आऊं तो कोई ब्रह्मचारी नहीं दिखाई दे कहीं वो चले गए सारे खिलाड़ी ऐसा तो नहीं कर दोगे है जी तो अब बिना आज तक किसी ने तेरा मुकाम पाया हर जाप जाके देखा तू कई नजर न आया नहीं आज तक किसी ने तेरा मुकाम पाया नहीं आज तक किसी ने अगले खंड को बोलना था ये चांद और सितारे हर दम ये कर रहे हैं ये चांद और सितारे हर दम ये कर रहे हैं हर शय में तेरा जलवा हर दिल में तू समाया हर शे में तेरा जलवा हर दिल में तू समाया नहीं आज तक किसी ने तेरा मुकाम पाया हर जाप के देखा तू कई नजर न आया नहीं आज तक किसी ने तेरे पहुंचा चमका वो आसमां पर जो दर पर तेरे पहुंचा चमका जो आसमां पर जिसने किया तक वह खाक में मिलाया जिसने किया तक वह खाक में सीने तेरा मुकाम पाया हर जाप जाके देखा तू कहीं नजर न आया नहीं आज तक किसी ने जब सिर पर हो मुसीबत चलता है फिर पता यह जब सिर पर हो मुसीबत चलता है फिर पता यह जग में है कौन अपना शरण आया नहीं आज तक किसी ने उस हाल में रहे हम जिसमें तेरी रजा है उस, उस हाल में रहे हम जिसमें तेरी रजा भगवान जो भी है तुझको भाया हो कर रहा पति केवा जो भी है तुझको भाया नहीं आज तक किसी ने तेरा जाप जाके देखा तू कई नजर ने आया नहीं आज तक किसी ने प्राय ये जो भजन है ब्रह्म विज्ञान में होते हैं प्राय होते हैं और अपने रामपाल जी उनके पास में क्रियात्मक योग एक क्या बोलते हैं वीडियो एक कैसेट होते हैं और एक वो साक्षात वो भी उनके पास में उसके दो स्तर हैं एक तीस वाला है तो एक साठ वाला होगा क्रियात्मक योग का जो प्रयोग करते हैं मंत्रों का प्रयोग या एक आध भजन का वो वहां से मिलेगा और अब का मुझे पता नहीं पहले इन भजनों का भी एक कैसेट उनके पास में वो भी होगा अब आगे की व्यवस्था